जगपति है यह निवेदन जब जन्म हो जगत में जगपति है यह निवेदन जब जन्म हो जगत में चरणों में तेरे हो मन जब जन्म हो जगत में जगपति है यह निवेदन जब जन्म हो जगत में हो ध्यान जहाँ तेरा जप तप जहाँ घनेरा उस घर में हो बसेरा जब जन्म हो जगत में जगपति है यह निवेदन जब जन्म हो जगत में चरणों में तेरे हो मन जब जन्म हो जगत में पृथ्वी में जब मैं आऊं तुझको न भूल जाऊं पृथ्वी पे जब मैं आऊं तुझको न भूल जाऊं तेरा ही गीत गाऊं तेरा ही गीत गाऊं जब जन्म हो जगत में जगपति है निवेदन जब जन्म हो जगत में चरणों में तेरे हो मन जब जन्म हो जगत में माया नहीं सताए सद ज्ञान मुझको भाए माया नहीं सताए सद ज्ञान मुझको भाए तू ही नजर में आए जब जन्म हो जगत में जगपति है निवेदन जब जन्म हो जगत बे चरणों में तेरे हो मन जब जन्म हो जगत में जब काल के हो फेरे छवि सामने हो तेरी मोहन बले चाह मेरी जब जन्म हो जगत में जगपति है यह निवेदन जब जन्म हो जगत में चरणों में तेरे हो मन जब जन्म हो जगत में चरणों में तेरे हो मन जब जन्म हो जगत में जब जन्म हो जगत में जब जन्म हो जगत में दिन गिनने दिन गिनते थे अवध के अवधपुरी के लोग इधर भात को भ्रात का दुस्सह हुआ वियोग बिखर रहे हैं केस सब है शरीर बेहाल सोच रहा है हृदय में कह के कालाल हे मन सहयोग समय आया अब नहीं भी योग सहोगे तुम मस्तिष्क कुशी का दिन आया अब भी विक्षिप्त रहोगे तुम रघुराई का आना सुनकर पावो कब दौड़े जाओगे पावो कब दौड़े जाओगे हे हाथों कब उन चरणों के सेवा का लाभ उठाओगे इतने में गिरने लगे नैनों से जलधार मन ही मन देने लगे अपने को धिकार सोचा जिसके माहट पूर्वक छोटे को राज दिलाती है दासी के बातों में आकर अग्रज को वन भिजवाती है विषम विरोध की बूटी को जो तुधा समझ कर पीती है दुनिया देखे उसकी संतति ऐसे रो रो कर जीती है जिस घर में राज्य फूट का हो उजड़ ही वह घर होता है रत्नों का भी भंडार वहाँ कंकड़ या पत्थर होता है इसी समय आया इन्हें एक चित्र का ध्यान मात सुमित्रा अवध है तुमसे स्वर्ग समान माता हाँ हाँ तुम माता हो सच्चे माता कहलाती हो जिस सूने सघन विपिन में तुम सिंहने समान सुहाती हो रघुकुल की महिलाओं में तुम आदर्श बखानी जाती हो जो सौतेले की सेवा में निज सुत का साथ पठाती हो जिस घर ऐसे माता हो वह है देवस्थान हो सकते है उसी के लक्ष्मण सी संतान लक्ष्मण तू सच्चा भाई है भाईपन हो तो ऐसा हो चौदह वर्षों के तप वाला नर जीवन हो तो ऐसा हो तो वह है वन के कीटों को फूकों से जो कि उड़ाता है भाई के सेवा के पथ में आँखों को हर रोज बिछाता है सुन चुका भरत निज कानों से रण में तुझ पर बीती थी जो मेरे विचार से जीवन था तेरी वह शक्ति लगी थी जो इसलिए अनुज है धन्य तुझे तूने भी रोचित कर्म किया संसार सदा शिक्षा लेगा पालन ऐसा सद्धर्म किया पर मैंने हाय जन्म लेकर इस जग में कौन भलाई की एकांत तपस्या की लेकिन सेवा का क्या घुराई की अब भी मनुआ हो जा सचेत किस दिन को कर्म क्षेत्र है इस बार चूकना मत भाई जब तुम पर दिव्य नेत्र है योगी की भांति देह तज कर आत्मा के तार मिलाने हैं आराध्य देव के चरणों में प्राणों के फूल चढ़ाने हैं पर नहीं भूल है यह पूजा होगी उनको स्वीकार नहीं तू तो रक्षक है अवध तलक तन पर तेरा अधिकार नहीं अतएव पवन जल सूर्य चंद्र इन सबको साक्षी करता हूँ प्रभु के चरणों के शपथ सहित अंतिम प्रणय ही करता हूँ चौदह वर्षों की अवध बिता यदि नाथ अवध में आएंगे तो इस शरीर को छोड़ प्राण उनके चरणों में जाएंगे ऐसे ही हठ अब ठानी है यही अभिलाष जग रही है हे हृदय बलिष्ठ बने रहना प्राणों की होड़ लग रही है जैसे चातक के लिए स्वाति बिंदु ही सार तो ही अब इस प्राण का एक राम आधार जैसे चातक के लिए स्वाति बुंद ही सार तो ही अब इस प्राण का एक राम ही सार पधारो न जीवन प्राण पधारो न जीवन प्राण जैसे चातक के लिए स्वाति बिंदु ही सार जो ही अब इस प्राण का एक राम आधार पधारो ना जीवन प्राण पधारो न जीवन प्राण हे अनाथपुर के नाथ करो सनाथ सीतानाथ हे अवधनाथ अनाथ के नाथ करो सनाथ सीताराज जिएगी किस तरह यदि जल से पृथक मीन हुई बजेगी किस तरह यदि तारहीन बीन हुई अवधि के रहते न आओगे अवध के राज तो समझ लो कि यह आत्मा तुम्हें में लीन हुई हठे लेन दास के हठ पे ध्यान ला ऊन लाऊना हठेले दास के हठ पे ध्यान लाओ न लाओ नाम जैसे चातक के लिए सात बिंदु ही सार जो ही अब इस प्राण का एक राम आधार पधारो न जीवन प्राण पधारो न जीवन प्राण पधारो न जीवन प्राण प्राणों को रख रहे थे जब यह अंतिम टेक तभी वहाँ पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण एक